ये अमीर लोग साले खुद को समझते क्या है दो मिनट बात कर लेने में इनका क्या चला जाता है अब मैं इससे मिलने के लिए इसके टाइम के हिसाब से जाऊंगा क्या हद हो गई है इस साले को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा नैना ने अशोक के घर को देखकर ही उसके दाम का अंदाजा लगा लिया था उसने विक्रांत से कहा विक्रांत हमें इस पर नजर रखनी होगी ये बहुत पैसे वाला लग रहा है पक्का इससे कुछ न कुछ जरूर पता चलेगा इसके बाद विक्रांत और नैना के पास कोई और रास्ता नहीं था तो वो दोनों दूसरे सस्पेक्ट से मिलने के लिए निकल पड़े उसका घर भी वही पोसारी के आसपास ही था इसकी उम्र भी अशोक की ही तरह तकरीबन 80 साल के करीब ही रही होगी तो उन्होंने सोचा कि अब यहाँ तक आए हैं तो कम से कम इसी से कुछ पूछताछ कर लें इस आदमी को खोजने में उन्हें बिल्कुल परेशानी नहीं हुई बड़ी आसानी से उसका घर विक्रांत और नैना को मिल गया था और दूसरी बात इस आदमी की उम्र भले ही बहुत ज्यादा थी लेकिन बंदे में एनर्जी कमाल की थी उसने बड़ी आसानी से जो कुछ भी उसे पता था वो सब कुछ विक्रांत और नैना को बता दिया वो करजत माइंस में गजेंद्र ठाकुर के लिए काम करता था वो अकाउंट का काम देखता था फिर भी वो अशोक को अच्छे से जानता था उसने बताया कि माइंस में अशोक ही सारा काम मैनेज करता था वो अपने जमाने में काफी ब्रिलियंट स्टूडेंट भी था और शायद इसीलिए गजेंद्र को उस पर बड़ा भरोसा था और उसने पूरे माइंस की जिम्मेदारी उसे ही दे रखी थी और अब वो बहुत बड़ा आदमी बन चुका है बहुत पैसे वाला हो गया है विक्रांत ने तो बेझिझक होकर उससे पूछ भी लिया कि अशोक को डायनामाइट या माइंस के अंदर होने वाले विस्फोट के बारे में कितनी नॉलेज थी यानी क्या वो बॉम्ब एक्सपर्ट भी था हाँ हाँ बिल्कुल था अशोक की कंपनी का मेन काम ही माइंस के भीतर ब्लास्ट करने का था उसे तो सब पता ही था ये सुनकर नैना और विक्रांत दोनों ही सख्ते में आ गए अब तो ये आदमी और ज्यादा संदिग्ध लग रहा है इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन निकालना बहुत जरूरी हो गया विक्रांत ने तुरंत ही राघव के पास फोन किया और उसे अशोक का नाम बताते हुए उसके बारे में सब कुछ पता लगाने के लिए कह दिया उसने राघव से कहा कि मुझे इस आदमी की सारी डिटेल चाहिए एवरीथिंग क्या बिजनेस है कैसे काम करता है फैमिली में कौन कौन है बच्चे बीवी रिश्तेदार सब कुछ सारी डिटेल निकाल कर जल्दी से जल्दी दो विक्रांत के बोलने के टोन से ही राघव समझ गया कि विक्रांत बहुत इम्पोर्टेंट काम उसे दे रहा है सो उसने भी विक्रांत के काम को बहुत सीरियसली लिया और उससे कहा कि मैं जल्द से जल्द सारी डिटेल निकलवा कर दे रहा हूँ इसके बाद नैना और विक्रांत बाकी बचे हुए दो संदिग्धों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए निकल पड़े बाकी बचे हुए दोनों को ढूंढने में भी उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं वो सभी भी वहीं आसपास एरिया के ही थे उन दोनों से पूछताछ करने पर पता चला कि वो सिर्फ माइंस में उस वक्त काम करते थे हालांकि वो अशोक के नाम से तो जानते थे लेकिन उसके बारे में उन्हें कुछ पता नहीं था और दूसरी बात उन दोनों की याददाश्त भी थोड़ी कमजोर हो चुकी थी इसलिए नैना और विक्रांत ने डिसाइड किया कि इन चारों से सबसे ज्यादा संदिग्ध अशोक ही है और उसी के इर्द गिर्द अपनी जांच करने का फैसला किया अशोक अशोक मेहता नैना ने संदेह भरे लफ्जों में नाम लेते हुए कहा यह नाम हमारे पुलिस रिकॉर्ड में तो कहीं नहीं है ना तो तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला इसमें पता क्या चलना है विक्रांत ने लापरवाही से जवाब दिया मैं बस गजेंद्र ठाकुर का जिस जिस के साथ कनेक्शन था उसे ढूंढ रहा था और ये मिल गया लेकिन नैना ने थोड़े शक भरे लफ्जों में पूछा और भी पुलिस वाले इतने दिनों से इस केस पर काम कर रहे थे लेकिन उन्हें तो कभी इसके बारे में पता नहीं चला तुम्हें कैसे पता चल गया और पुलिस वाले सिर्फ करजत माइंस के आसपास ही अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे लेकिन मैं मैं एक एक आदमी को लेकर उससे जुड़े लोगों को भी इन्वेस्टिगेट करता हूँ इसलिए सिंपल है विक्रांत ने नैना को एक्सप्लेन कर दिया वैसे विक्रांत सही भी कह रहा था इसके इन्वेस्टिगेशन का तरीका यही था वो पर्सनली एक एक को इन्वेस्टिगेट करता था उसकी आदत पिछले जन्म से ही थी पिछले जन्म में जब वो गैंगस्टर हुआ करता था तब उसका काम अपने बॉस के लिए वसूली करने का ही था और तब वो अपने बॉस के कर्जदारों को ऐसे ही ढूंढ ढूंढ कर उनसे पैसे वसूलता था ओ ये बात है नैना ने हंसते हुए कहा मुझे तो लगा की तुम कोई फिर से बेवकूफी वाला रीजन दोगे मेरे पास शक्ति है मैं सब जान लेता हूँ मेरे ऊपर भगवान का आशीर्वाद है ऐसा कुछ वैसे विक्रांत तुम्हें आज हुआ क्या है तुम आज बहुत बदले बदले से लग रहे हो आज पहले जैसे बात नहीं कर रहे बिल्कुल अलग लग रहे हो कैसे रहूं फिर अगर कुछ इधर उधर किया तो फिर तो मेरा बैंड ही बच जाएगा विक्रांत ने मन ही मन सोचा लेकिन डर के मारे वो नैना से कुछ नहीं कह सका ओ अब क्या करूं मैं कैसे रहूं मैं कुछ करूं तो भी दिक्कत ना करूं तो भी दिक्कत अब तुमको चिढ़ाता हूँ तो फिर तुम नाराज भी होने लगती हो इसलिए मैंने अब सोच लिया है कि अब मैं तुम्हारे साथ सीरियस ही रहूंगा हम्म नैना कुछ सोच ही रही थी उसने विक्रांत की बातों पर ध्यान भी नहीं दिया एक बात बताओ ये गजेंद्र ठाकुर के बारे में तुम्हें कैसे पता चला वो वो मुझे मेरे एक दोस्त ने उसके बारे में बताया था विक्रांत ने सीरियस होते हुए जवाब दिया मेरे दोस्त चाहते थे कि मैं इसके बारे में अरे रुको रुको रुको एक मिनट एक मिनट एक मिनट एन अपनी बाहें समेटने लगी उसे ऐसा करते देख विक्रांत की आवाज कांपने लगी उसने फिर तुरंत ही अपनी बात बदलते हुए कहा दरअसल मैं मैंने वहां करजत पहाड़ी के सुरंग में एक मुजरिम को पकड़ा था फिर मुझे वहां से शक हुआ था कि ये किडनेपर जरूर इस सुरंग में काम करता रहा होगा फिर वहीं से मुझे गजेंद्र ठाकुर के बारे में पता चला और मेरा शक उस पर गया विक्रांत ने एक ही सांस में सारी बात सच सच कह डाली उसके बाद उसने नैना को चेताते हुए कहा देखो तुम तुम मुझे यहाँ ना मारना वरना यहाँ आसपास कोई खाई है मैं नीचे गिर सकता हूँ हम्म, अब तुमने सही बात की अब ठीक है नैना इस वक्त एक हाथ से गाड़ी चला रही थी और दूसरे हाथ से वो अपनी शर्ट की बाहों को सही करने लगी फिर उसने विक्रांत की तरफ देखते हुए विक्रांत अगर हम गजेंद्र से अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं तो तुम्हें नहीं लग रहा कि हम कुछ मिस कर रहे हैं एक आदमी और है जिसे हम छोड़ रहे हैं